दो मिनट होठों से जब ये तू कर सकती है बहुत कष्ट सहे इसने भी इसने कष्ट बहुत सहे हैं अब तू देखना है क्या करता हूँ मैं इसने कष्ट सहे हैं अभी वो कष्ट का अंत कर दे ठीक है बेटे ओम ओम ओम रम रम रम रम रम रम, रम फिर थोड़ी देर करके एक मिनट फिर बम बम बम बम बम बम ये वायु नाश करता है बम भोले बम ओम बम बम बम बम बम बम दो मिनट ऐसा करा फिर ऐसे आप मेरे हो मैं तुम आप मेरे हो ना नहीं रहे हो हम्म। दो तीन मिनट कंठ से भगवान के साथ दिल लगेगा ठीक है फिर ओम ऐसे एक टक देख हरिओम प्यारे हो अंतरात्मा हो हंसेगी तो हंसी तो फंसी तू भी फंसेगी वो भी फंसेंगे ठाकुर जी भी फंसे वो भी हंसेंगे तो वो भी फंसेंगे अब तू भी हंसेगी तो फंसोगे तो काय में फंसोगे जैसे मक्खी शहद में फंसती तो शहद में हो जाती ऐसे ही भगवान आत्मा में और तुम भी आत्मा में दोनों आनंद में तरंग पानी में पानी तरंग में ऐसी ऐसी चमकेगी कि तू सोच भी नहीं सकती मेरे को भी पता नहीं था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा लेकिन ऐसा करने से सब हो गया अब तू तो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ी मैं तो किसी को बोलना नहीं इतना ही पढ़ा है कई प्रधानमंत्री कई मुख्यमंत्री कई क्या कई आज से चालू कर दे पक्का हो गया आसन बिछा के रखे तो ठीक है और अभी जॉब चलने दे फिर अपने आप इसमें प्रमोशन हो जाएगा जॉब सैलरी बढ़ने वाली जॉब मिल जाएगी तू नहीं चाहेगी तो भी अच्छे पैसे वाली जॉब तुझे मिलेगी इसका जप करना एक दो माला फिर थोड़े पैसे इकट्ठे करके जॉब की ऐसी तैसी मन गई मीरा गुड मैन टैन बापू के बच्चे नहीं रहते बोलते जब भी आओ आओ मैं कहा कभी जाना नहीं पचास लाख बोले तब जाएंगे नहीं तो रोटी तो खाना है इसको इसका आदमी बोलता बापू के पास रहो ये फ़ोन करती बोले नहीं मेरे से फ़ोन करती तो तेरा माइंड चेंज होगा बापू के पास ही रहो तल में तल दबे ब्राह्मणी है खड़ी हो जा ब्राह्मणी बड़ी बड़ी कंपनी को लोन देने का इसकी साइन चलती कंपनियों को चालू करना बंद करवाना तीस लाख क्या होता है अमेरिका में पचास नहीं तो नहीं जाते एक बात बताऊं हतु करेगी एक लीटर पानी सब लोग सुन लो